क्या क्या सूत्र पहले ष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थर और वाम और नौ कहाँ कहाँ आदेश होगा सब अपवाद जाने के बाद कहाँ रहेगा कि द्विवचन ष्ठी चतुर्थी द्वितीय के द्विवचन में आदेश होगा वाम और नौ और बहुवचन में क्या आदेश होगा वस नस कौन से हो जाएगा वह और न युष्म शब्द को होगा वह या प्रत्यय को होगा वह युष्म को प्रकृति को प्रकृति के स्थान पर आदेश हो गया प्रत्यय के स्थान पर ष्ठी चतुर्थ द्वितीय स्थयो हो प्रत्यय विशिष्ट प्रकृति प्रत्यय समुदाय के स्थान पर ष्ठी चतुर्थी द्वितीय में स्थित युष्मद ष्ठी अस्मद ष्ठी ष्ठी चतुर्थी द्वितीय पर में रहते पूरा प्रकृति प्रत्यय समुदाय को हो जाएगा द्वितीय दिवचन क्या बनेगा युवाम वाम युवाम बनेगा युवाम वाम और अस्म शब्द में क्या बनेगा आवाम नौ द्वितीय हो गया चतुर्थ में क्या बनेगा युष्म शब्द को युवाभ्याम युष्म शब्द को युवाभ्याम और आवाभ्याम वाभ्याम वाम अष्टम शब्द का वाभ्याम नौ और ष्ठी में क्या बनेगा युवयो हो और आवयो हो नौ ये रूप बनेगा दो दो बनेगा एक वचन क्या बनेगा द्वितीय में त्वाम त्वा और माम माँ चतुर्थ में क्या बनेगा तुभ्यम ते मह्यम में और ष्ठी में क्या बनेगा तब ते मम में ये एकोचन द्विवचन हो गया बहुवचन में द्वितीय में क्या बनेगा यस्मान वह और असमान न चतुर्थी में क्या बनेगा यस्म व्यम वह अस्मभ्यम न ष्ठ में क्या बनेगा अस्म न अभी मिला कर बोलना पड़ेगा शुरू से पहले ये समय साथ बोलो तम युवा योयम इति प्रथमा युवाम वाम त्वा युवाम वाम युष्मान वह इति द्वितीय फिर बोलो द्वितीय त्वाम त्वा हाँ, इति हाँ त्वया हाँ, तोभ्यम ते तत् इति तव ते यो यो युष्माक वह हाँ इति षष्ठी त्वयि त्वयि और उबा नहीं यू हाँ युवयो युष्मासु अस्म सदोल अहम आवाम वयम इति प्रथम माम माम अस्मान न हम्म, इति इति इतिया मह्यम में आभ्यम न पुस्तक बंद है सबका हाँ बंद करके लिखो द्वितीय विभूति चतुर्थी और षष्ठी में रूप लिखो युष्म शब्द का युष्म शब्द का द्वितीय विभूति का रूप चतुर्थी का और षष्ठी का एक वचन द्विवचन बहुवचन केवल द्वितीय विभूति चतुर्थी विभूति और षष्ठी विभूति हाँ लेकर के अपने आप देख लो कितने ठीक है कितने गलत है फिर परसों परीक्षा करेंगे अपने आप देख लो अभी देखो पुस्तक देखो एक श्लोक में सब दे दिया है श्लोक याद है किसको याद नहीं हाँ, देखो पुस्तक देखो ये हो गया शीर्षस्तावतुमा पीह दत्ता ते मे पी शर्म सवतुमा पीह दत्ता ते मे पी शर्म स स्वामी ते मे पिसहरि पातु नौ विभो स्वामी ते मे पिसहरि पातु सुखं वा नौ दधा सपतिर्वामपि नौ हरी सोव्याद वो न शिव वो न दद्यात् सेव्योत्र स न ईशस्वावतु मापी यह त्वा और माँ शीर्ष त्वा अवतु अवरक्षण रक्षा करे त्वा कहाँ का रूप है द्वितीय क्वेश्चन है और माँ पी माँ द्वितीय एक क्वेश्चन है क्वेश्चन एक क्वेश्चन दोनों में क्या भेद है एक एक हाँ उस्मद नहीं युष्मद और एक है इह यहाँ दत्ता ते मे भी शर्म सह दत्ता दान कर दे ते मे ये कहाँ के रूप है चतुर्थी एक वचन ते एक वचन है और मैं हाँ यस्म दर्शन में भी शर्म कल्याण सह सह का था श्री लक्ष्मीपति भगवान स्वामी ते मे भी सहरी सहरी ते मे भी स्वामी ते मे भी कहाँ का ष्ठी एक वचन एक वचन पूरा हो गया अभी द्विवचन देखो पा तो वाम अपि नौ विभु पातु वाम नौ द्वितीय द्विवचन है वाम का क्या अर्थ है युवाम और नव का अर्थ आवाम विभु सुखम वाम नौ ददातु ईश वाम और नौ ददातु ये चतुर्थी दिवचन ईश पतिर्वाम अपि नौ हरी वाम अपिनौ हरि पति ही वाम ष्ठी दिवचन और नौ ष्ठी दिवचन हरि आगे बहुचन रहा सो अव्यात वह कहाँ का है द्वितीय बहुवचन न द्वितीय वचन शिवम वो नो दद्यात शिवम दद्यात वह और न वम वो चतुर्थी बहुवचन और नो चतुर्थी बहुजन सेव्योत्र वह स न सत्र सेव्य कस्य वह और न वह का अर्थ नहीं वह का अर्थ क्या है यस्माकम और न का अर्थ अस्माकम अभी एक एक का रूप बोलना पहले त्वा का क्या अर्थ है त्वाम त्वा का अर्थ त्वाम और माँ का अर्थ माम दत्ता ते में ते का अर्थ तुभ्यम मे का अर्थ मह्यम आगे स्वामी ते मे पी सहरी ते मे का अर्थ तब मे मम पातु वाम अपि नौ विभु पातु वाम क्या है युवाम और नौ आवाम सुखम वाम नौ ददातु वाम का अर्थ द्वाभ्याम और नौ अवाभ्याम पतिर्वाम अपि नौ हरि पतिर्वाम युवयो नौ आवय स्व्यात वो न शिवम स्व्यात वो न यस्मान अस्मान शिवम वो न दद्यात शिवम वो नो दद्यात युष्माभ्यम अस्माभ्यम सेव्योत्र वह स न वह युष्माकम अस्माकम हाँ देखो सब उसमें पदात पर हो दिया है पहले आया था पदात पर में होना चाहिए और पाद के आदि में नहीं होना चाहिए किसी पाद के आदि में देखो नहीं पद से पर है ष्ठी चतुर्थी द्वितीय विशिष्ट को एक वाक्य यस्मदस्मदादेशा वक्तव्या एक वाक्य में दो अलग अलग वाक्य हो तो नहीं एक तीन वाक्यम ये वाक्य एक जिसमें तिंगंत हो वाक्य होगा ओदनम पच तब भविष्यति ये एक वाक्य है आधा वाक्य है कितने एक या आधा दो वाक्य ओदनम पच एक अलग तब भविष्य अलग इसलिए यहाँ यस्मद आदेश नहीं अस्मद आदेश यस्मद आदेश नहीं हुआ उदनम पच ते भविष्य नहीं हुआ तब भविष्यति एते वांग नावादयो अनन्वादेशे वा वक्तव्या वाम नाभादय वाम और आगे क्या नौ वाम नौ आदय वाम नौ और आदि से हाँ, आदय क्या आदि से क्या लेना वाम नौ और वस नस ते में और त्वा माँ अनन्वादेश अन्वादेश होगा तो नित्य होगा अन्वन्नादेश में विकल्प होगा अन्वादेश पहले आया था द्वितीय आटो से बनाया था किंचित कार्य विधातुम उपात्य कार्यांतर विधानार्थ पुनरुपादान अन्वादेश एक बार कह करके फिर अन्य कुछ कहने के लिए उसका ग्रहण करेंगे तो अन्वादेश अनुपश्चात आदेश अनुवादेश में ये इसमद अस्मद आदेश होंगे हैं अनुवादेश में नित्य अन्वादेश तो नित्यम अन्वादेश नहीं तो आदेश होगा नित्य विकल्प और अन्वादेश में आदेश होगा नित्य धाता ते भक्तोस्ति धाता तब भक्तोस्ति वा धाता ते भक्तोस्ति ये देखो ते भक्तोस्ति यहाँ है आदेश है तब धाता तब भक्तोस्ति ये दोनों में से कोई का सोते हैं किंतु अन्वादेश जब होगा तस्मय ते नमः तस्मय ते नम तस्मय तुभ्यम नम धाता आपका भक्त है आपको नमस्कार तस्मय ते तुभ्यम नहीं तस्मय ते नम प्रथम क्या है प्रथम में ते कह सकते हैं तब कह सकते कि अनुवादेश जब हो जाएगा तस्मय ते नम अनुवादेश है ते यहाँ नित्य हो गया आगे सुपात शोभनो पादो यस्य शोभनो पादो यस्य अच्छा पाद जिसका सुपाद औ अनेक मन पदार्थ हो जाएगा समास होने के बाद संख्या सुपूर्व से एक सूत्र है संख्या सुपूर्व सुपर पूर्व होने से पाद को लोप होता है पाद से लोप हस्त्यादि भी लघु कम दिमाग आएगा सुपूर्व होने से पाद के अंत्य अ को लोप हो गया लोप होने पर प्रातिपदिक बन जाएगा सुपाद दकारांत सुपाद सुपाद कृतदित समास सूत्र से प्रातिपद्य संज्ञा स्वाद उत्पत्ति सु का लोप करने के लिए कोई सूत्र है हालांकि आप सुलोप होने पर सुपाद रहा और वाव स्थान से सुपात हो जाएगा सुपात सुपाद दो बन गया प्रातिपदिक क्या है सुपाद अंत में द है अ है औ पर क्या सूत्र लगेगा कुछ का सुपाद जस में सुपाद संबोधन में हे सुपाद हे सुपाद हे सुपादो और द्वितीय में सुपादम सुपादो सान पर सूत्र लग गया पाद पत पाद के स्थान पर पत आदेश हो जाएगा पद पाद शब्दांतम यदंगम भम तद अवय से पाद शब्द से पदादेश पाद शब्दांतम पाद शब्द अंत में हो सुपाद में अंत में भव है यदंगम भम यची भम से भव संज्ञा हो जाएगी उसके अवय पाद शब्द को पद आदेश हो जाएगा पाद को पद करें तो क्या विशेष हुआ पा में दीर्घता हर्षो सुपद का सस में क्या बनेगा सुपद बनेगा सुपद टा में क्या बनेगा पा या प है कोई पा भी कहते हैं सुपदा बनेगा क्या बनेगा भ्याम में क्या बनेगा हैं हाँ दीर्घ रहेगा सुपाद भ्याम भीष में पा या प सुपाद बनेगा या सुपद अच्छा एक वचन चतुर्थ में क्या बनेगा सुपदे द्विवचन में बहुवचन में पंचमी हाँ, बोलो ष्ठी इति सप्तमी बहुवचन में क्या बना सुपात सु बोलो शुरू से सुपाद सुपाद सुपाद इति हे मथनाति अग्नि मंथ विलोटन धातु से कुप होता है और उपधालोपन से अग्निमथ थकारांत है प्रातिपदिक क्या है अग्निमथ थकारांत सु आने पर लोप होगा किस सूत्र से और थ हो जाएगा वावसा ने तो झलांज से दे दो अग्निमत अग्निमध क्या बनेगा अग्निमत अग्निमध जस में क्या बनेगा अग्निमथ अग्निमथ औ में क्या बनेगा अग्निमथ द्वितीया में क्या बनेगा अग्नि बोलो प्रथम शुरू से बोलो अग्निमत अग्निमद हे अग्नि अग्निमद द हो जाएगा अग्निमद भ्याम अग्नि सुर से अग्निमथा आगे प्रपूर्वक अंशु धातु से क्वीन ऋत्विक दधि किसको सूत्र याद है बोलो हाँ अंशु युज अंशु है प्रपूर्वक अंशु धातु से ऋत्विक से क्वीन हो गया प्र अंश प्रांश है प्रातिपदिक प्रांश क्वीन होने पर कीत होने से ये सूत्र लगेगा अनिदितांग हल उपधाया किंगिति हल उपधाया किंगिति किंगिति नहीं उपधाया अनुसार विसर्ग के बाद ककार बोलो उपधायाक उपधाया ककार अरे गीति उपधायाक गीति उपधाया क कबल उपधायाक कि क रह के आगे गीति अनिदिता हल उपधाया किंगिति मंगानापधाया मंगानामुपधाया नस्य लोप कितिंगिति हलंत हो और अनिदित हो जिसका ईत ईत होता है उसको कहेंगे ईदित्य धातु है ई है इकार लोप हो जाएगा तो इत इत संज्ञा हो तो क्या कहेंगे ईत ईत या ईदिति जिसके जिसके ईत इकार ईत संज्ञा नहीं है होगा अनिदित है यहाँ पंच धातु में इकार ईत संज्ञा के है, है? नहीं इसलिए अनिदित है अंगा नाम उपधा का नकार लोप हो जाएगा अंश में जो य है नकार को ही अनुसार प्रसवन होकर के यहाँ बना न था तो न का लोप हो जाएगा कित कित पर कित क्या है क्वीन प्रत्यय कित है कित पर से न का लोप है तो प्रातिपदिक क्या रहेगा प्र अच प्राच है प्राच होने के बाद अंशु धातु उदित है सु आने के बाद उगित चाम सर्वनाम स्थाने च धातु नुम हो जाएगा नुम होने पर क्या होगा प्रा अगर नकार चकर प्रांच न चाहे मिदोचंत्यात पर सुकालोप के सूत्र से आगे चकार का लोप हो जाएगा संयुक्त से लोप तो क्या बचेगा प्राण नकारांत रहेगा ना आगे सूत्र हो गया क्विन प्रत्यय से कुह क्या सूत्र क्विन प्रत्यय कौन है यहाँ कुन प्रत्यय कौन है हाँ प्रांच प्रांच का प्राण है कुन प्रत्यक्ष को अलंत्य परिभाषा से न को हो जाएगा कु क वर्ग स्थानांतरतम न से कुत्न कुत्वन ग क्या रूप बनेगा प्रांग प्रातिपदिक क्या है प्राच प्रांच नहीं प्राच न क्या लोप हो गया औ पर नुम होगा औ के बाद नुम होगा क्या किस सूत्र से नुम को नकार के अनुसार प्रसन्न हो जाएगा प्रांच प्रांच प्रांग प्रांच प्रांच संबोधन में हे प्रांग हे आगे द्वितीय में प्रांचम प्रांच सस आने पर नुम किस सूत्र से होगा जस में नुम हुआ किस सूत्र से सस में क्यों नहीं होता है सर्वनाथान कौन करता है सूत्र सुड़ा नपुंसक कितने सु आउट और नहीं नुम नहीं होगा तो प्रातिपदिक क्या है प्राच अगे क्या है शस शस का से है अभी इसकी भ संज्ञा है हाँ, सूत्र लगे अच लुप्त नकार से आंचतेर भस्य आकार से लोप लुप्त नकार से अंश जिससे अंश धातु का नकार लुप्त हो गया अंश धातु में नकार था क्या अनुसार पर समन को यहाँ था नकार लोप हुआ किस सूत्र से लुप्त नकार अंश के भस्य भ संज्ञा होने पर भ संज्ञा किस सूत्र से भस्य अकार से लोप अंश अंश के अकार का लोप हो जाएगा प्र अंश था न लोप हुआ था प्र अच क्या था प्र अच अलोप हो गया प्र चकार हो गया प्र आगे च आगे सूत्र चौ लुप्ताकार नकारेंच तो परे पूर्व श्याणु दीर्घ लुप्त अकार नकारे अकार का लोप नकार का लोप नकार का लोप की सूत्र से हुआ था अब अकार का लोप कहाँ हुआ अच्छा अभी अकार का लुप्त तो है लुप्त तो है या नकार लुप्त तो है ये अंच तो परे अंश धातु परे में होगा तो पूर्व अण को दीर्घ होगा पूर्व में अण हो तो पूर्व में यहाँ अण है कौन है प्र में अ है क्या प्र के अ को दीर्घ हो जाएगा प्रा आगे क्या है प्रा चकार आगे अस प्राच ऋतु विसर्ग हो जाएगा प्राच बन जाएगा क्या बन जाएगा प्राच द्वितीयाभित बोलो प्रांचम प्रांच तृतीय में क्या बनेगा प्राचा भ्या में क्या बनेगा प्रातिपदिक क्या है प्राच प्राच है च को क्या हो जाएगा चो कुशे को झलाम जो संदिग्ध हो जाएगा बनेगा प्राग भ्याम बीच प्राग भी बोलो सुर सप्तमी क्या बनेगा प्राची प्राचो हो प्राक्षु क हो जाएगा चौकू क आदेश प्रत्यय हो सुर से बोलो प्रांग प्रांच इति प्रथमा हे जैसे प्रपूर्वक अंश धातु है इसे प्रतिपूर्वक अंश धातु से क्वीन हो जाएगा प्रति अग्रे अंश कुन अंश के नकार उपधा का लोप किस सूत्र से होगा तो क्या बचेगा प्रति अग्रे अच यण करे तो क्या बनेगा प्रत्यक्ष प्रातिपदिक क्या है प्रत्यक्ष सु आएगा कृतधित समाशास्त्र प्रातिवेद संज्ञा सु आने पर हल्के आपसे पहले नूम करना उगित है उगित कौन है अंश में उकार की संज्ञा उगित होने से क्या सूत्र लग गया उगित नुम हो जाएगा प्रति अंश है हो गया नकार आ गया सुख लेंगे आप लोप करो लोप होने के बाद क्या रहेगा प्रति अग्रे अंश अंश के चकार का लोप हो जाएगा संयुक्त से लोप तो क्या बचेगा प्रति हैं प्रति के आगे अन क्या हो गया प्रति अन्न नकार को क्या करना कुन प्रत्यय से कु क्या बनेगा यण हाँ, हो जाएगा प्रत्यंग क्या बनेगा प्रत्यंग आगे औ में प्रातिपदिक क्या है प्रत्यक्ष तो प्रत्यंश कैसे होगा नोम हो जाएगा नोम होगा सर्वनास्थान में हाँ सर्वनास्थान में नोम हो जाएगा तो कैसे बनेगा नकार के अनुसार परसोन हो जाएगा प्रत्यंश आगे प्रत्यंच संबोधन में हे प्रत्यं द्वितीय में प्रत्यंचम प्रत्यंच सहस आने पर प्रति के आगे क्या है स से प्रति के आगे अच आगे स से सूत्र लग गया अचह नकार कालो अकार का लोप हो जाएगा अस का कार भ संज्ञा है कि सस में होने पर क्या बचेगा प्रतीच प्रति अगर चकार आगे सो लग जाएगा चौ चौ लगने पर क्या होगा दीर्घ किसके हो किसको कार को प्रतीच क्या बनेगा सस मिला दो ऋतु विसर्ग प्रतीच आजाद में सा बनेगा टा में भी प्रतीचा ष्ठ में प्रतीच चो प्रतीचान सप्तमी में प्रत्यक्षु क्या बनेगा प्रत्यक्षु वहाँ अचह लगता है अचह लगता है सप्तमी बहुजन में अचह लगेगा चौ लगेगा भ्या में क्या बनेगा प्रत्यंग अनुसार अनुनासिक है या नहीं प्रत्यंग नहीं क्या बनेगा प्रत्यंग भ्याम सुर से बोले रूप प्रत्यंग प्रत्यंग इति हे प्रत्यय हो गया आगे उद ऊदपूर्वक अंश धातु से ऊदपूर्वक अंश धातु कोई नहीं होने पर प्रथमांत क्या बनेगा उद अगर अंश उदंग बन जाएगा उद अगर अंश उदंश नकार लोप हो गया अनिदिताम उदच प्रतिपदी क्या है उदच उदच सो में नुम होगा नुम होने के बाद हालांकि आप लोप करो तो लोप करो क्या बचेगा उदन क्या बचेगा नकार को कुन प्रत्यय से हो जाएगा क्या बनेगा उदंग आगे औ में नकार कहाँ से आएगा नुम होगा सास में नुम होगा तो वहाँ क्या रहेगा ऊद अग्रे अच अच्छा सूत्र लग गया वहाँ भसंज्ञा होने पर अच्छा लग कर अलोप हो गया लप होने पर चौ सूत्र से पूर्व अण को दीर्घ होगा पूर्व में अण है क्या है ऊद है अंत में क्या है द है इसे सूत्र लगेगा उद ईति उच पर लुप्त नकार से तेरे भस्याकार से ईति उस शब्द से पर लुप्त नकार अंशते नकार लोप की सूत्र से हुआ अनिता नहीं अनिता तो पहले चला गया अच नकार लोप ना अच से नकार लोप नहीं हाँ नकार तो हटेगी नकार जो लोप हुआ हाँ, अनिदितम किस सूत्र से रंचतर भस्य अकार से अच्छा अकार लोप नहीं दिया लुप्त नकार से अंचतर भस्य अकार से इत अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है वो अच सूत्र से अकार लोप प्राप्त था क्या था अचर सूत्र से जो अलोप प्राप्त था उसको उसका अपवाद अचर सूत्र नहीं लगेगा अचर सूत्र से क्या लोप होना था लोप होने पर चौ से दीर्घ होता किंतु पर पूर्व में अण नहीं इसलिए यहाँ अच के अकार को ही ईत हो गया अच के अकार को ये हो गया लुप्त नकार से अंशतर भस्य अकार से अंश धातु के अकार अंश में अच में अकार है उसे अकार को ई हो जाएगा किस सूत्र से उद ईद उद क्या भी होती पंचमी उद से पर अच के अ को ई हो जाएगा उद को क्या आदेश होगा उद को ई होगा उद ऐसा रहेगा और ई किसका आदेश होगा अच के अ को ई हो जाएगा तो आगे क्या रहेगा च रहेगा तो क्या अभी प्रकृति क्या बन जाएगी उदीच क्या बनेगा और असस्कार का क्या बनेगा उदीच टा में उदीचा ष्टी में क्या बनेगा उदीच उदीच सप्तमी में उदी उदक्षु क्या बनेगा उदक्ष प्रातिपदिक क्या है उदक्ष भ्याम में क्या बनेगा उदक भ्याम प्रथमा में क्या बनेगा उदंग रू बोलो उदंग उदंग चौ

समपूरक अंश धातु से क्विन करेंगे सम अगर अंश नकार का लोप हो जाएगा किस सूत्र से अनिदेता हमारा पिता के दी क्या रहेगा बचेगा सम अग्रे अच समझ क्या बचेगा समझ आगे सु आने पर ये सूत्र लग गया समह समी सम सम को समी हो जाएगा वह प्रत्यांत अंश तो कुन का वह है प्रत्यय अंश धातु पर रहते सम को समी हो जाएगा समय अग्र अच प्रातिपदे क्या होगा समय अग्रज सम्यच प्रातिपदे का क्या है सम्यच सो आने पर नुम के सूत्र से होगा अन्य नुम होगा उगी दशा से नुम होगा हैं अनिदिताम से क्या हुआ था और वो अनिदिताम सूत्र से क्या होगा हाँ न क्या लोप होगा नुम करेगा कौन स स्थान पर नुम होगा हैं ज स्थान पर होगा हाँ नुम होने के बाद क्या प्रतिपति बन जाएगा सम्यंच सम्यंच नुम होने पर होगा हाँ सो में हलंग्याप लोप हो जाएगा चक्कर का लोप किस सूत्र से होगा क्या बचेगा सम्य न बचेगा न को हो जाएगा कुन प्रत्यय को क्या बनेगा सम्यंग औ में सम्यंच सम्यंच द्वितीय में सम्यंचम यहाँ सम्य अग्र अच सम्यच है ना क्या है सम्य अग्रज सम्यच यहाँ सस आने पर अच सूत्र लगेगा अच से अकलोप हो जाएगा फिर क्या सूत्र लगेगा चौ लगेगा समी के ईकार को दीर्घ हो जाएगा समीच क्या बनेगा समीच सस क्या बनेगा समीच टा में क्या बनेगा ष्टी बोलो समीच सप्तमी सम्यक्षु वहाँ समी नहीं सप्तमी भोजन क्या बनेगा सम्यक्षु में क्या बनेगा सुर से बोलो सम्य सम्यंच इति हे सम्य सह अंशति सह पूर्वक अंश धातु तो से कोई नहीं होगा सह अग्र अंश वो सूत्र लग जाएगा सहस्य सद्री कुन प्रत्य प्रत्यांत अंश धातु पर रहते सह को हो जाएगा सद्री सद्री अगर अंश अंश के नकार के लोप के सूत्र से अनिदेता सद्री अग्र अच क्या बनेगा सद्रियच क्या बनेगा सध्रच सु आने के बाद नुम किस सूत्र से नुम होने के बाद सकार हलंग्याप लोप चकार का लोप क्या बचेगा सध्रंग न को हो जाएगा कौन प्रत्यक्ष को क्या बनेगा सध्रंग औ में बनेगा सध्रंच सध्रंच आगे सध्यं हाँ सस आने के बाद सद्री अग्र अच ही सद्री अग्रे अच ससान पर भ संज्ञा है किस सूत्र से भ संज्ञा होने पर अच सूत्र से का लोप हो जाएगा लोप में क्या बचेगा सद्री सदृश क्या बचेगा चौ लग जाएगा क्या करेगा सद्री के इकार को क्या रूप बनेगा सद्री चह क्या बनेगा टामे सप्तमी में सद्री हो सद्रंग नहीं सद्रक्षु क्या बनेगा क सक्ष हो जाएगा आदेश प्रत्यय लगेगा हाँ शुरू से बोलो सद्रियंग सत्यं इति हे सत्यं चौ सद्रीचा इति द्वितीया सद्रीचा सद्यज्ञा सद्यज्ञे इति द्वितीया सद्रीचे सद्यज्ञा सद्यज्ञा इति चतुर्थी सद्रीचा सद्यज्ञा सद्यज्ञा इति पञ्चमी सद्रीचा सद्रीचोः